नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 19 जुलाई 2013 और ये वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आया डांस बार के ऊपर उसके ऊपर तो मैं इस जजमेंट के खिलाफ हूँ पर इससे दो और चीजें जुड़ी हुई है मतलब वो जुड़ी हुई नहीं है पर फिर भी थोड़ा ओवरलैप हो जाता है कंसेप्चुअली कम से कम एक है पोर्नोग्राफी और दूसरा है कॉमर्शियल सेक्स तो इसमें कभी भी जब लॉ का कानून लॉ का लॉ के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये चीज अच्छी है या बुरी है क्वेश्चन वो होता ही नहीं अच्छी है या बुरी है क्वेश्चन ये होता है कि इस चीज को रोकने की कोशिश की पुलिस के द्वारा कानून के द्वारा अदालत के द्वारा सरकार के द्वारा तो नुकसान बढ़ेगा या कम होगा सोसाइटी को ओवरऑल नुकसान बढ़ेगा या कम होगा और ये सबसे पहले देखना होता है कि जैसे ओपियम है अफीम है उसको रोकने की कोशिश करेंगे क्यों एक जमाने में भारत में 1960 तक ओपियम हर जगह लीगल था चाणक्य ने तो यहाँ लिखा उसने कि ओपियम पे कितना टैक्स होना चाहिए मतलब जाहिर ओपियम लीगल ही था फिर हरेक काल से लेके कभी ओपियम को अच्छा नहीं कहा गया यही कहा गया कि ओपियम लेने वाला बुरा आदमी होता है उसका ओ, ओ, मतलब उसे ओपियम छोड़ देना चाहिए अफीम छोड़ देना चाहिए पर कहीं भी जो इतनी भी भारत की दंड संहिता है मनुस्मृति या कोई भी हो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि अफीम लेने वाले को या अफीम बेचने वाले को इतना दंड किया जाए और 1960 से पहले कोई जजमेंट भी नहीं है जिसमें अफीम पीने वाले को या अफीम बेचने वाले को किसी तरह का पनिशमेंट किया हो तो यही इसी एंगल से देखना होता है हर एक चीज को कि पोर्नोग्राफी या कॉमर्शियल सेक्स या डांस बार कि इसको रोकने से की कोशिश करेंगे पुलिस और अदालत के द्वारा रोकने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा या सोसाइटी को बेनिफिट होगा अब जो भी मैं प्रपोजल रख रहा हूं यहाँ पे ओपीएम के बारे में या उसके उसमें एक कॉमन चीज है कि जितने भी मेरे प्रपोजल है मेरा ये कहीं दावा नहीं है कि मुझे पीएम बनाओ और मैं ये सारे प्रपोजल रहूंगा वो चीज हमने मोदी साहब के लिए छोड़ दी है और ये भी नहीं है कि भाई हमारे पार्टी के 200 250 500 लोग एमपी बनेंगे और फिर ये ये कानून लाएंगे जितने भी कानून लाने हैं वो टीसीपी के थ्रू ही लाने हैं ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर जो कि आ, मैंने सेक्शन 1.3 में डिस्क्राइब किए मेरी पुस्तक का सेक्शन 1.3 मेरी पुस्तक आपको मिलेगी Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M पे अब आ, डांस बार पे मेरा स्टैंड है कि वो इलीगल होना चाहिए और पोर्नोग्राफी पे लीगलिटी इलेगलिटी के बहस करना टाइम वेस्ट है क्योंकि इंटरनेट है उसको दुनिया की कोई सरकार प्रैक्टिकली नहीं रोक सकती और मतलब डीवीडी से इतने सारे डीवीडी आ रहे हैं और पूरा का पूरा डीवीडी अब तो मोबाइल में आ जाता है उसको कंप्रेस करके जो पूरी दो घंटे की फिल्म है वो 400 एमबी में कंप्रेस होकर मोबाइल पे आ जाती है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ से या मेमोरी स्टिक से ट्रांसफर कर सकते हैं केबल से कोड से ट्रांसफर कर सकते हैं तो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आगे इंटरनेट ब्लूटूथ डीवीडी और इतने सारे बिट टॉरेंट और इंटरनेट वो तो है टू जी थ्री जी सब थ्री जी से भी फाइल ट्रांसफर हो सकता है तो उसकी वजह से अब जो इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी वगैरह है वो अब लीगलिटी के बाहर हो गया अब क्वेश्चन आता है ओपीएम का तो मेरे दूसरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं उसको लीगलाइज करने के फेवर में हूं क्यों क्योंकि उसको रोकने से नुकसान ज्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से तमाकू का कंजम्पशन बढ़ गया तो कैंसर बढ़ गया तो कैंसर की कंपनी को तो और फायदा दिया तो उन्होंने और पैसा दिया तमाकू को बैन करने के लिए फिर ये दारू का कंजम्पशन बढ़ गया उसकी वजह से और ये हार्ड ड्रग्स कोकेन और स्मैक और उसका कंजम्पशन बढ़ गया ओपीएम को दबाने के चक्कर में और दूसरा है कॉमर्शियल सेक्स कॉमर्शियल सेक्स को भी मैं डिक्रिमिनलाइज डिक्रिमिनलाइज यानी लीगलाइज ही हुआ एक तरह का के करने के फेवर में अब इसमें मैं फिर से कहता हूं कि जो भी कानून मुझे लाने हैं वो टीसीपी के थ्रू लाने हैं और उसमें यदि कोई केस होगा तो उसका फैसला भी जूरी करेगी मतलब मान लो लाख दो लाख केस आएंगे ओपीएम के या कॉमर्शियल केस के तो उसमें सजा कित करनी है कितनी सजा करनी है दोनों में से किसी को भी या दोनों को भी तो वो ज्यूरी डिसाइड करेगी इसमें मेरा कोई ओपिनियन मेरा कोई रूलिंग नहीं होगा मेरा सिर्फ ओपिनियन है और तो और डांस बार के मैं अगेंस्ट हूँ यानी कि ये बैन करना चाहिए अब एक क्वेश्चन आता है कि ये टॉपिक पे मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया चुप क्यों नहीं रहा चुप नहीं रहा है नहीं जैसे अरविंद भाई ने डांस बार का जो जजमेंट है उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक है ये चालू रहना चाहिए पर उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया कोई स्टेटमेंट नहीं दिया एक्टिविस्ट को बोला कि इस टॉपिक को दबा दो मैं मानता हूं कि हरेक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन को हरेक इंपॉर्टेंट चीज पे ओपिनियन रखना ही चाहिए और उसके एक्टिविस्ट को भी बोलना चाहिए कि तुम भी इस चीज पे ओपिनियन रखो क्योंकि ओपिनियन दबाने से प्रॉब्लम तो गायब नहीं हो जाता मेरे चुप मैं, मैं वीडियो ना बनाऊं तो उससे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो गायब नहीं हो जाएगा और अंत में हर एक चीज का यदि कानून से आ, कानून से निपटना है तो किसी को तो कानून बनाना ही पड़ेगा और वो काम पॉलिटिशियन नहीं करेंगे तो क्या मतलब जज के लिए छोड़ना है विदेशों के लिए छोड़ना है यदि भारत के पॉलिटिशियन नहीं करेंगे इसलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इस टॉपिक पे कोई भी हाँ बोले या ना बोले उसको कोई ना कोई किसी न किसी की आंख में वो बदनाम होगा लेकिन मैं मानता हूं कि हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हर एक पॉलिटिशियन को ओपिनियन देना ही चाहिए इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया तो अब मैं डांस बार के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूं डांस बार में एक तो इसको रोकना बहुत आसान है रोकना क्यों आसान है क्योंकि वो पब्लिकली होता है भले ही रेस्टोरेंट की चार दीवारी में होता हो पर वो बात छिपी नहीं रहती यानी इस पे रेट डाली जा सकती है उसमें सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं आ, पुलिस है वो वीडियो कैमरा आसपास कहीं छिपा दे रेड डालने से पहले और प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे डांस बार चल रहा था ज्यूरी उसको सजा दे सकती है बाद में ज्यूरी डिसाइड करेगी सजा नहीं देनी तो अलग बात है लेकिन कानूनी डांस बार को रोकना मुमकिन है जो कि कॉमर्शियल सेक्स के केस में पॉसिबल नहीं है कानूनी उसको रोकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोई ये छिपे होता है ये कोई खुलेआम तो होता नहीं है पोर्नोग्राफी में कानूनी रोकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिट टॉरेंट है डीवीडी है इतने सारे तरीके से आदमी डाउनलोड कर सकता है जबकि इसमें डांस बार में रोकना पॉसिबल है अब डांस बार से नुकसान क्यों होता है कि इससे जो जो इच्छा है अर्ज है वो बढ़ जाती है और इंडिया में कानून हमें पता है कि वीक है अदालत एकदम कमजोर है जज हमारे बिका हुए हैं ज्यूरी सिस्टम आ गई राइट टू रिकॉल जज आ गया तो भी सुधरने में दो तीन साल लग जाएंगे सब कुछ पुलिस कम है अदालत कम है अदालतों की संख्या तेरह हजार है हमें एक लाख अदालत की जरूरत है एक साल के अंदर तो इतनी सारी अदालतें नहीं बना सकते इसलिए क्रिमिनल को पनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए क्रिमिनल ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं तो डांस बार है वो इच्छा बढ़ा देता है अमेरिका में डांस बार है लेकिन क्राइम क्यों नहीं होते इतने सारे डांस बार की वजह से क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट वगैरह बहुत मजबूत है पुलिस में करप्शन कम है इसलिए क्रिमिनल पोटेंशियल क्रिमिनल है वो डरता है यहाँ पे क्रिमिनल डरता नहीं है अब इच्छा बढ़ गई और इसलिए क्राइम हर तरह के क्राइम छेड़खानी अपहरण वगैरह की संभावना बढ़ जाएगी दूसरा कि इसकी ये ओपनली होता है डांस बार उसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है महिला में भी और पुरुष में भी महिला में कंपटीशन आ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा दिखावा करे क्योंकि वहां वहाँ पे 10, 15, 20 महिलाएं होती है तो उनमें ऑटोमेटिकली एक तरह का कंपटीशन हो गया तो ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव होगा और जो पुरुष है वहाँ पे उनमें भी कॉम्पिटिटिवनेस आएगी कोई हजार पैसा रुपया फेंक रहा है तो दूसरा दो हजार फेंकेगा तो तीसरा तीन हजार फेंकेगा तो पैसे उनके इसमें खर्च हो जाएंगे तो जाहिर है उनके पास उनकी फैमिली के लिए पैसे कम रहेंगे कम हो जाएंगे फिर वो गहने बेच देंगे या तो डेट अपने सर पे ऋण कर लेंगे या तो फिर चोरी चपाटी करेंगे तो जहां जहां डांस बार थे वो बंद कराए उसका रीजन यही था कि जहां जहां डांस बार थे वहां पे यूथ में क्राइम रेट बढ़ गया था और इसीलिए dance rate dance club dance bar है वो बंद कराने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पे जन आंदोलन हुए और महाराष्ट्र सरकार को डांस बार बंद करने पड़े महाराष्ट्र सरकार का हर एक एमएलए बीजेपी का हो या शिवसेना या कांग्रेस का वो डांस बार में पार्टनर था और वो डांस बार चालू रखना चाहता था लेकिन फिर भी डांस बार सरकार को बंद करने पड़े क्योंकि लोगों का बहुत दबाव था और लोगों का दबाव इसीलिए था क्योंकि डांस बार की वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा था दूसरा इंडिया में फीमेल रेशियो जो है वो फोर्टी टू थाउजेंड है 940 to 1000 यानी क्या कि 60 पुरुष है उनकी शादी हो, होने की कोई संभावना ही नहीं है मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो ऐसे में जो कॉमर्शियल सेक्स है उसको वैसे भी उसको रोकना मुमकिन नहीं है पुलिस और अदालत के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की तो भ्रष्टाचार बढ़ता है उससे अत्याचार बढ़ता है और फाइनेंशियल एक्सप्लोरेशन बढ़ता है क्योंकि मान लो जो भी 500 रुपया तो 500 रुपया पुलिस को देना पड़ेगा तो हजार रुपया हो जाएगा तो इससे फाइनेंशियल एक्सप्लोइटेशन दोनों का बढ़ गया जो क्लाइंट है और फीमेल है दोनों का बढ़ गया और खा खा कौन रहा है पुलिस वाला जज एमपी एमएलए जो कि इस धंधे में से पैसा नोटते हैं तो कॉमर्शियल सेक्स को बैन करने से फाइनेंशियल एक्सप्लोइटेशन बढ़ता है प्लस टेक्निकली तो लीगल है पर फिर भी पुलिस वाले रेड डाल के उसको परेशान करते रहते हैं और पैसा हटते रहते हैं क्यों क्योंकि कोर्ट के अंदर वो अभी भी सेमी लीगल किस तरह से कि जब कोई केस आता है तो जज पुलिस वाले को एक बोल के सजा नहीं करती कि भाई ये तो लीगल था तू ये केस लाया ही क्यों यानी पुलिस के पास जाने जाना जज लोगों ने इतना पावर दे दिया है कि वो पिटाई कर सके दूसरा और इससे एसोसिएटेड जो कानून है उसमें बहुत से ऐसे प्रावधान है कि पुलिस इस तरह का इल्जाम लगा सके कि जो आदमी है उसने जबरदस्ती किया था भले ही जबरदस्ती हो या ना हो पर आंधा आंख आंख बंद करके इल्जाम लगा सकते हैं बाद में वो प्रूव नहीं होगा तो आदमी बच जाएगा लेकिन कम से कम तीन चार महीने तो उसको जेल में रहना पड़ेगा फिर कॉमर्शियल सेक्स को जो सेमी बैन किया उसकी वजह से ईमानदार आदमी उसमें से निकल जाएंगे तो गुंडे बदमाश आएंगे तो उससे एक्सप्लोटेशन और बढ़ेगा और जहाँ पे हिंसा का और अंडर एज का उपयोग होता है वहाँ तो सजा होनी चाहिए उसमें कोई था ही नहीं पर जहाँ पे 100 परसेंट कंसेंचुअल है जहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कहीं हिंसा नहीं है तो वहाँ पे आ, आ, पुलिस और अदालत का उपयोग करने से समस्याएं हर तरह से बढ़ेगी जबकि डांस बार में उल्टा है डांस बार को रोका जा सकता है और डांस बार को यदि नहीं रोका तो समस्या बढ़ेगी डांस बार यदि चलते रहे तो जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से वल्गरनेस बढ़ेगी फिर डांस बार की वजह से अल्कोहलिज्म भी बढ़ता है कॉमर्शियल सेक्स की वजह से अल्कोहलिज्म नहीं बढ़ता डांस बार की वजह से जो आदमी एक पैक पी के सो जाता था वो अब डांस बार जाएगा तो वहां पे एक पूरी बोतल पी जाएगा वो दस पैक पांच पैक पिएगा दस पैक पिएगा तो इससे दारू में वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा और अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ेगा अब ये सारी चीजें थी उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने उसको लीगल कर दिया और बस वही राइट टू लिबर्टी और पता नहीं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ पटंग लॉजिक निकाल दिया वो उन लोगों को कोई काम धंधा तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को जब भी जजमेंट देना होता है तब वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 वो रटे रटाए होते हैं किसी फर्स्ट ईयर एलएलबी का लड़का भी रट लेता है बस वही बोल देते हैं और उसके आधार पर जो जजमेंट देना वो दे देते हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि जो बेचारी जो कन्याएं हैं उनकी आजीविका का प्रश्न है भाई उनको कोई और नौकरी मिल जाएगी बॉम्बे में जहां डांस बार है वहां पे minimum labour rate minimum labour rate वहां पे तीन सौ रुपया है वहां पे जो घर में आया रखते हैं बच्चे के लिए या किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए तो वहां उन्हें दिन का छह सौ आठ सौ रुपया देते हैं मिनिमम मैं बोल रहा हूं शायद ज्यादा देते होंगे खाना पीना सब और यदि कोई 24 घंटे किसी वृद्ध व्यक्ति की आ, सेवा के लिए रुके आ, किसी घर में तो बॉम्बे में मिनिमम उसे महीने का पंद्रह हजार देते हैं तो ये सब ये ये काम कर सकते हैं बॉम्बे में household labour semi skilled labour जिसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं होती फिजिकल हार्डवर्क की जरूरत नहीं है उसकी बहुत डिमांड है कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बॉम्बे में ऊपर से पूरे हिंदुस्तान से लोग बॉम्बे आते हैं तो ये बेचारी बालाओं का प्रश्न था ही नहीं और दूसरा सबको पता है कि डांस बार के बिजनेस में जो डांस करने वाली महिलाएं होती है लड़कियां होती है वो इतना पैसा नहीं कमाती पैसा कौन कमाते हैं डांस बार का मालिक और वो डांस बार का मालिक कौन होता है वो कोई वहां का पुलिस का रिश्तेदार होता है या वहां के हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई रिश्तेदार वकील होता है या तो एम पी होता है मतलब ये सब इसी तरह के गवर्नमेंट से कनेक्टेड लोग होते हैं तो ये डांस बार है उसमें पैसा डांसिंग गर्ल को मिलता है वो बात बकवास है तो हर एंगल से देखो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है तो अब हम क्या कर सकते हैं एक्टिविस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सारे कार्यकर्ताओं को कि आप भारत के 80 करोड़ नागरिकों को एसएमएस से रिक्वेस्ट आप भारत के 80 करोड़ नागरिकों को रिक्वेस्ट करो कि वो अपने मोबाइल से एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे एसएमएस से ऑर्डर भेजे कि डांस बार गैर कानूनी होना चाहिए उसके लिए पार्लियामेंट में बिल पास करें और पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज कैंसल हो जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने 1985 के आसपास शाहबानो केस का जजमेंट दिया था आप गूगल करना उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अरे उसके बाद पार्लियामेंट ने कानून पास किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की ऐसी तैसी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज को एमपी के द्वारा कानून पास करा के कैंसिल करा सकते और दूसरा एक और तरीका है कि एमपी को बोलो कि right to recall Supreme Court जज का ड्राफ्ट गैजेट में छापे और इस सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भ्रष्ट न्यायाधीशों को नौकरी से निकाल दो और दूसरे न्यायाधीश को लाओ जो कि इस जजमेंट को रिवर्स कर दे तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम एक्टिविस्ट ये कर सकते हैं अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जैसे कि भाई एमपी का मोबाइल नंबर कहां से मिलेगा पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से एमपी का मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या करें सारे एमपी ने मोबाइल नंबर नहीं डाला 70, 80, 90 परसेंट ने रखा हुआ है तो आप किसी बाजू के एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो और उसमें लिखो कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऑर्डर आप अपनी पार्टी के फला फला एमपी को फॉरवर्ड कर दो जैसे कि अडवाणी ने अपना मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट पे नहीं डाला तो अडवाणी की पार्टी बीजेपी के एक दूसरे एमपी है बाजू की कंस्टिट्यूंसी के हरिन पाठक तो जो अडवा, आदमी अडवाणी को एसएमएस से ऑर्डर भेजना चाहते हैं वो हरिन पाठक को एसएमएस भेज सकते हैं कि डियर पाठक साहब I request you to forward following SMS to Advani Advani ji और नीचे एसएमएस में लिखो कि dear Advani ji I am voter my voter number is so and so I order you to pass such and such law तो इस तरह से आप बड़ी संख्या में सांसदों को एसएमएस से ऑर्डर भेजो ताकि समाज में जो दूषण बढ़ेगा, क्राइम्स बढ़ेंगे, फिजूल खर्ची बढ़ेगी, लीकर का कंजम्पशन बढ़ेगा, वो कम हो। धन्यवाद। और एक और मेरा प्रपोजल है इसी से रिलेटेड कि शराब यदि कहीं बिक रही है, तो वो सिर्फ दुकान में बिकनी चाहिए, रेस्टोरेंट पे या होटल के अंदर नहीं बिकनी चाहिए। मतलब होटल में बिकती है तो सिर्फ कमरे में बिके। यानी आदमी शराब जहां पे लीगल है वहां आदमी दुकान से शराब लेके सीधा घर जाए या तो वो भी बंद करा के सीधा होम डिलीवरी रखना चाहिए ताकि दुकान पे भी ना बिके और कहीं भी पब्लिक प्लेस पे यानी कि बार में या रेस्टोरेंट में या आ, आ, क्लब में शराब पे बैन होना चाहिए तो इससे शराब का कंजम्पशन घटेगा और चोरी भी कम होगी क्योंकि आदमी शराब पी के जब घर जा रहा होता है तब मारपीट के या हर तरह के क्राइम की संभावना बढ़ जाती है यदि वो घर में शराब पी रहा है तो घर में शराब पी कैसे हो जाएगा तो इससे आसपास के सोसाइटी को न्यूसेंस क्राइम का प्रॉब्लम कम हो जाएगा तो ये भी आप अपने एमपी को एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजे कि इस तरह का कानून वो पार्लियामेंट में रखे धन्यवाद